ये रात का समय था और अब तक सारी स्ट्रीट लाइट भी जल चुकी थी विक्रांत इस वक्त नैना के साथ उसकी गाड़ी में बैठा हुआ था गाड़ी ड्राइव करते हुए नैना की नजरें इस वक्त ठीक सामने थी उसने विक्रांत की तरफ बिना देखे ही कहा विक्रांत क्या तुम बिल्कुल श्योर हो कि मंजू मैडम का मर्डर साजिद ने नहीं किया है हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ विक्रांत ने अपनी जेब से अपनी डायरी निकाल ली और फिर बोला मैंने सिर्फ इसके लिए श्योर हूँ बल्कि मुझे ये भी पता है कि साजिद को जानबूझकर इस केस में फंसाया गया है और खुद साजिद को भी ये नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है उस रात उसने खूब शराब पी हुई थी और फिर उसे मर्डर वाले प्लेस पर ले जाने से पहले ड्रग्स भी दिया गया था ताकि उसे कुछ भी याद ना रहे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम खुद वहाँ मौजूद थे नैना ने विक्रांत की तरफ थोड़ी अजीब नजरों से देखते हुए कहा लेकिन हाँ मैं तुम्हारी इस बात से श्योर हूँ ये पॉसिबल है कि साजिद को खुद नहीं पता है कि असली मुजरिम कौन है उसकी बस किस्मत खराब थी और वो बली का बकरा बना हुआ ओ विक्रांत मनी मन सोचने लगा भाई मेरे पास तो लाइट डिटेक्टर मशीन है वहाँ से मुझे ये सब पता चला है लेकिन ये इतना श्योर होकर क्यों बोल रही है देखो अभी तक साजिद जिंदा है यही इस बात का प्रूफ है नैना को अंदाजा लग गया था कि विक्रांत के दिमाग में क्या चल रहा है तुम खुद सोचो जिस भी आदमी ने मंजू को मारा है वो कोई मामूली आदमी नहीं और अगर साजिद ने उसे इतफाक से मंजू को मारते हुए देख लिया था तो फिर अब तक वो जिंदा कैसे रह सकता था उसने सबूत मिटाने के लिए साजिद का भी मर्डर कर दिया होता हम्म, सही बात विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा यानी कि हमें साजिद के खिलाफ और कोई सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है राइट नैना ने जवाब दिया तुम खुद सोचो अगर हम उसी तरीके से मंजू को मारने का प्लान बनाते तो क्या हम उसे ऐसे ही अचानक से जाकर मार देते नैना ने विक्रांत को सोचने के लिए कुछ पल दिए विक्रांत ने भी थोड़ी देर तक सोचने के बाद जवाब दिया हो सकता है कि मार भी देते लेकिन फिर भी डिफिकल्ट काम है राइट नैना ने जवाब दिया अब तुम सोचो उस रात मर्डरर को सारा कुछ प्लान करना पड़ा होगा मंजू कितने बजे ऑफिस से निकल रही है वो कब तक ऑफिस में रहेगी वो किस रास्ते से घर जाएगी और साजिद कहाँ और कब उससे मिलेगा सारा कुछ प्लान किया होगा और उसे मंजू मैडम के बारे में भी सब कुछ पता रहा होगा मंजू मैडम अक्सर देर रात तक ऑफिस में काम करती रहती थी और वो कब और किस रास्ते से घर जाएगी इसके बारे में किसी को पता नहीं होता था विक्रांत ने बताया टीम बी के ऑफिसर बता रहे थे कि उस दिन जब मंजू मैडम ने घर जाने की बात कही तो उनका पहले से कोई प्लान नहीं था फिर अचानक ही विक्रांत के दिमाग में एक बात आई ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस टीम में ही कोई ऐसा रहा हो जो मंजू मैडम पर लगातार नजर रख रहा हो और वो सही मौके की तलाश कर रहा हो तुमने ही तो बताया था ना कि पुलिस टीम में ही कोई गद्दार छुपा हुआ है हम्म सही बात पुलिस वालों की गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगी होती है नैना ने कहा कोई अंदर वाला ही उस बात की इन्फॉर्मेशन दे सकता है मंजू की सही लोकेशन निकालने का काम किसी अंदर वाले आदमी ने ही किया है हम्म, फिर फिर मैं पता करता हूँ कि उस रात मंजू के साथ कौन कौन काम कर रहा था अगर उनमें से कोई ऐसा हो जो मंजू को बार बार घर जाने के लिए कह रहा हो तो वो सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड है विक्रांत ने कहा नहीं हम ये नहीं कर सकते लेकिन नैना ने विक्रांत की तरफ नाव में सिर हिलाते हुए कहा तुम्हें मैंने पहले ही बताया था ना कि ये काफी सीक्रेट केस है हमें किसी को भी इसके बारे में पता नहीं लगने देना है अगर हम ऐसे किसी को पकड़कर इन्वेस्टिगेट करने लगे तो फिर बड़ी मुसीबत हो सकती है और और हमें भी तो अभी एग्जैक्ट पता भी नहीं है कि ये कौन हो सकता है हो सकता है कि कोई टीम ए का ऑफिसर हो कोई सिक्योरिटी वाला हो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से हो या या कोई हायर ऑफिसर हमें अभी कुछ भी श्योर नहीं है तो हम भला ऐसे कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हायर अथॉरिटी भी हो सकता है विक्रांत ने कुछ पल सोचते हुए कहा हम्म, वैसे मेरी मानो तो हमें पुष्कर और नई टीम लीडर चेतन राय से पूछताछ करनी चाहिए चेतन तो अभी नया नया है अभी तक हॉस्पिटल में पड़ा है अचानक ही ड्यूटी ज्वाइन करने आ गया और उसके आते ही मंजू मैडम का मर्डर हो गया मुझे तो उन दोनों पर पूरा शक है विक्रांत तुम अपनी पर्सनल खुन्नस यहाँ मत निकालो मुझे भी पता है तुम्हारे और पुष्कर के बारे में तुम यहाँ अपना बदला पूरा करने की कोशिश मत करो नैना ने थोड़े सख्त लहजे में विक्रांत को जवाब दिया विक्रांत के पास भी कोई जवाब नहीं रह गया वो अपना सिर घुमाते हुए इधर उधर देखने लग गया फिर अचानक से उसकी नजर रोड किनारे जल रही स्ट्रीट लाइट पर पड़ गई एक बात बताओ जहाँ पर मंजू का मर्डर हुआ था वहां पर लाइट्स जल ही रही होगी और और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो सोलर लाइट तो जलेगी ही अब खुद सोचो साजिद जैसे नॉर्मल आदमी ने अगर उसका मर्डर प्लान किया भी था तो उसे भला ये कैसे पता चला होगा कि रोड पर इस वक्त लाइट नहीं जलेगी और अंधेरा रहेगा तुमने बताया कि साजिद को मंजू के मर्डर वाले प्लेस तक कार से लाया गया था है ना नैना इस पर फिर अपनी भोए ऊपर करते हुए साजिद से पूछा लेकिन तुम्हें पता कैसे चला सबूत कहाँ है मेरे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन लेकिन मैं श्योर हूँ विक्रांत ने सीरियस होते हुए कहा मैं मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकता हूँ मेरे पास जादुई शक्ति है oh oh, really Vikrant please Naina ने गुस्से में कहा प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाओ विक्रांत अगर वो साजिद को कार से नहीं ले गए तो क्या उठाकर गोद में ले गए थे विक्रांत ने भी अपनी बात का तर्क देना शुरू कर दिया जहाँ पर मंजू का मर्डर हुआ वहाँ से वो क्लब बहुत दूर था जहाँ बैठकर साजिद शराब पी रहा था अब जाहिर है कि वो लोग साजिद को किसी न किसी गाड़ी में भरकर ही ले गए होंगे इसमें कौन सा सबूत देना है अब हम्म, नैना ने अपना सिर हिलाते हुए विक्रांत की बातों से हामी भर दी फिर उसने कहा अच्छा अगर हम उस कार को ढूंढ लें जिसमें भर के साजिद को वहां लाया गया था तो फिर हमें काफी कुछ पता चल सकता है मैंने मैप में उस एरिया को पूरा देखा हुआ था उस वक्त वहाँ आसपास के रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और गाड़ियों के आने जाने का कोई एक ही रास्ता नहीं था वहाँ किसी भी डायरेक्शन से गाड़ी आ जा सकती थी हम ऐसे आसानी से उस कार के बारे में नहीं पता लगा सकते विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अब कुछ भी हो हमें ढूंढना तो पड़ेगा ही क्योंकि वो कार ही हमारे लिए कातिल तक पहुंचने का एक रास्ता साबित हो सकती है और मुझे तो लगता है कि हमें अपने इन्वेस्टिगेशन के रेंज को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा उस रात बार से निकलकर मंजू के मर्डर प्लेस तक जितनी भी गाड़ियां गई हुई थी हमें सबकी डिटेल निकालनी होगी हम्म विक्रांत ने हाँ में सिर हिला दिया लेकिन तभी उसे कुछ याद आया एक मिनट एक मिनट नैना अगर हम मंजू का मर्डर करते तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती मतलब क्या मतलब क्या नैना ने कंफ्यूज होते हुए पूछा अरे ये देखो ना रोड पर कितनी गाड़ियां चल रही हैं। विक्रांत ने रोड पर आ जा रही गाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा भले ही उस रात मंजू काफी लेट घर जा रही थी फिर भी रात को इक्का दुक्का गाड़ियां तो आती जाती ही रहती हैं। क्या जब मंजू का मर्डर हुआ तब एक भी गाड़ी रोड पर नहीं आ जा रही थी अरे हाँ नैना ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया हमने इस तरह से सोचा ही नहीं शिट अब मुझे समझ में आया विक्रांत ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा उस रात कंस्ट्रक्शन दिखाकर रोड को ब्लॉक कर दिया गया होगा तभी उस तरफ एक भी गाड़ी नहीं गई और बड़े आराम से मंजू मैडम का मर्डर कर दिया गया ये बात नैना को भी अब अच्छे से समझ में आ रही थी विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा मंजू मैडम के मर्डर में जरूर कोई न कोई अंदर का आदमी शामिल है और और उनके मर्डर करने वालों में एक दो नहीं बल्कि कई सारे लोग शामिल थे कईयों ने मिलकर मंजू मैडम का मर्डर प्लान किया था विक्रांत कुछ सोच ही रहा था कि अचानक से नैना की तरफ देखकर बोल पड़ा नैना मैं तो भूल ही गया हम इतनी सारी बातें कर चुके लेकिन अभी तक तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मंजू मैडम किस केस पर काम कर रही थी अगर हमें ये अच्छे से पता लग जाए कि मंजू मैडम किस केस पर काम कर रही थी तब हमें इस केस को सॉल्व करने में और मदद मिल सकती है हम्म, नैना ने कुछ सोचते हुए कहा देखो विक्रांत मैं मैं तुमसे सच बता रही हूँ मुझे तो लगता है कि हमारे हायर ऑफिसर्स भी इस वक्त काफी मुश्किल में फंसे हुए हैं मैंने खुद उन्हें फोर्स करके ये जानने की बहुत बार कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया क्या क्या मतलब नहीं बताया विक्रांत ने अपनी भुआ टेढ़ी करते हुए कहा यार ये क्या बात हुई